श्रीगणेशाय नमः जानकी वल्लभो विजयते सोपान सोपानवत्तरकाण्ड के के कण्ठाभणेन सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाडौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमेद्यं रघुवर मनिषम पुष्पकारूढ़ मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ कंज मंजुल ओमरावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृगुसङ्गिनौ कुन्दयेन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् शंकर मनंग मोचनम कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरों के नित्य संगी हैं अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ रहा एक दिन अवध कर अतियारत पुरलोग जह तह सोच नारी नर कृषतन राम वियोग सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चहुफेर श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है श्री राम जी क्यों नहीं आए इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए नगर भी चारों ओर से रमणिक हो गया मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं कौसल्यादिमातु मातु सब आनन्दयस हो आयौ प्रभु श्री अनुजुत कहन चहत भरत नयन भुज दक्षिणा पर कत बार जान सगुन मन सयते लागे करण विचार कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए भरत जी की दाहिनी आँख दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे रहूँ एक दिन अवधि समुझत मन दुख भयऊँ कारण कवन नाथ नहीं आयो जाने कुठिल के धम बिसराय अह धन्य लक्षी मन बड़ भागे राम पदार बिंदु अनुरागे कपट कुटिल मोहि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीनाम तात नाथ संग लीना प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया हा हा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री राम जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं अर्थात उनसे अलग नहीं हुए मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया जो करनी कसम जय प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलप सत सतकोरी जनयव गुण प्रभु मानन काऊ दिन बंधुयते जुल सुभा मोरे जिय भरोस दृढ़ सोए मिले हैं राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रहे जो प्राणाम अधम कवन जग मोहि समान बात भी ठीक ही है क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो सौ करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप पवन सुत आय गय जनपोत बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा